और मरियम के बेटे ईसा सलाम को और उनकी मां को हमने एक निशानी बनाया और उन दोनों को एक ऐसी बुलंदी पर पनाह दी जो एक पुरसुकून जगह थी और जहां साफ सुथरा पानी बहता था